पुरुषो ज्योतिर्वाधूमक ईशानो भूतभव्यस्य स्व एवाद्य सौ स्वः एतद्वै बात बताइए ये जो शरीर है इसके भीतर ही द्रव्य के भीतर प्राण के भीतर मन के भीतर बुद्धि के भीतर सुसुप्ति में भी जागता हुआ है हृदय की उपाधि से अंगूठे भर का मालूम पड़ता हुआ जो पुरुष चैतन्य है वो उपाधि के धर्म उपाधि के कर्म उपाधि की अवस्था उपाधि के परिमाण उपाधि के परिणाम एक आदमी के घर में पारस पत्थर था तो उसने बत्ता बना रखा था सिर पर रोज उससे चटनी पीसता था पहचानता नहीं था कि ये पारस है अब वो गया ढूंढने को कहा सीतारा पहाड़ में गया कि हम वहां से पारस पत्थर ढूंढेंगे अरे घर में तो तुमने पहचाना नहीं और ढूंढने गए पहाड़ में कैसे मिलेगा एक दिन मैं एक के घर गया तो अब उसके घर गया तब तो, तो पहचाना नहीं उसने अब वो मेले में हमको ढूंढने गया तो मेले में कहा से मिलेंगे तो ये जो परमेश्वर है सच्चिदानंद घन बिल्कुल मैं की ओट में परमात्मा छिपा हुआ है ये जो परिच्छिन्न मैं है ना परिच्छिन्न मैं की ओट में परमात्मा छिपा हुआ है तुम जब परिच्छिन्न मैं को देखते हो तो परमात्मा से एक होकर देखते हो और जब अपने को परिच्छिन्न मैं मानते हो तब परमात्मा का देखना छूट जाता है हे नारायण जब ये बात मालूम हो जाती है कि काल हमको मार नहीं सकता देश हमको घेर नहीं सकता वस्तु हमसे कोई दुश्मनी नहीं कर सकती ये बात जब मालूम पड़ जाती है तो ततो न बिदना ततो विजु उपसते है हाँ। बोले हम सुरक्षित कैसे रहेंगे तो अरे भाई सुरक्षित रहने की जरूरत ही क्या है तुमको भय क्या है क्या काल में तुम घिस जाओगे क्या देश तुमको छोटा बना देगा क्या जड़ता तुम्हारे ऊपर हावी होके चेतन से जड़ बना देगी क्या तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन है जो तुमको मार देगा बोले दूसरा तो है ही नहीं तो, तो, तो तुम खुद मर जाओगे तो खुद तो हम मर ही नहीं सकते तो ततो न बीजुगुप सते ततः गोपाय तुम न इच्छते अभयम वही जनक प्राप्तोसी जनक अब तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो गई है अभयम हवई ब्रह्म तद विजिज्ञा तत्व ब्रह्म ही अभय है और जब तक तुम अपने आत्मा को ब्रह्मरूप नहीं जानोगे तब तक अभय नहीं हो सकते स्वरूप न जानने के और हैं हाँ। तो हमको कोई ठान लेगा तो ये डर कब तक लगता है या हम किसी को ठान लें ये इच्छा कब तक होते हैं जब तक मालूम नहीं है कि आत्मा का ज्ञान स्वरूप है वो आत्मा ज्ञान स्वरूप है एकदम ज्ञान स्वरूप न तुमको कोई ठग सकता न तुम किसी को ठग सकते बिल्कुल ज्ञान ही ज्ञान है उसमें ठगाई कहाँ है हम अब हमेशा ही दुखी रहेंगे ए महाराज अब हमारा सुख मर गया अब तो बस रोने के लिए हम जिंदा रहेंगे अरे रोने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे अभी घंटे भर बाद ही हंसोगे ऐसा देखा बड़ी प्यारी मर गई है ना आदमी खूब हो रहा फिर थोड़ी देर के बाद उसके साथ बैठ के जब बात करने लगे ना तो बात का सिलसिला ऐसा चला कि वो मरने का प्रसंग भूल गया दूसरे बात में का आ गई तो वही आदमी जो जार गुजार रो रहा था वो हंसने लग गया याद आई तो मुंह दबा के गंभीर हो गया और अच्छा। स्वभाव जन्मने मरने का नहीं है तुम्हारा स्वभाव बेवकूफ जन्मने बनाने का नहीं है तुम्हारा स्वभाव दुख देने और दुख लेने का नहीं है तुम तीन चीज के व्यापारी नहीं हो है? दुख देना और दुख लेना ये तुम्हारा व्यापार नहीं है जो तुम करते हो ये झूठा है और ठगना और ठगाना ये भी तुम्हारा व्यापार नहीं जो कुछ बनना और बनाना ये तुम्हारा व्यापार नहीं है तुम झूठे ही करते हो और मरना और मारना हिंसा हिंसा अज्ञान और दुख इनका लेना देना इनका क्रय विक्रय ये आत्मा का स्वरूप ये आत्मा का स्वभाव नहीं है ये बिल्कुल बनावटी हो रहा है तुम सच्चिदानंद हो जब हम ये बात कहते हैं लोग कहते हैं वेदांत कई लोग कहते हैं वेदांत समझ में नहीं आता तो कितना सीधा सीधा वेदांत समझना तुम सब स्वरूप हो मानो तुम मरने के लिए डरो मत और दूसरे को मरने का डर दो मत एक धर्म हो गया तुम्हारा तो जुगल धर्म निकला कि नहीं तुम किसी के बनाए बेवकूफ डरो मत और दूसरों को बनाओ मत तुम सचित स्वरूप हो दुखी हो मत दुख दो मत आनंद स्वरूप हो तुम सच्चिदानंद हो इसमें से तीन धर्म निकल आया जोड़ा जोड़ा धर्म से तो ये वेदांत तो बहुत समझ में आने वाला है बड़ा ही सुगम है भूत भव्यस्यो भूत भव्य जो भूत अभी तुमको मालूम पड़ता है ना वो तुम्हारा ही बनाया हुआ है हाँ जिसके लिए रोते हो हाय हाय दस वर्ष पहले ऐसा भूत था ऐसा मजहब का संस्कार था कृति हाँ। थी दस वर्ष पहले और संस्कृति तो ऐसी सड़क जाती है कि पता ही नहीं चलता जैसे अभी हमने देखा कोई सज्जन कंधे पर सजरा रखे आए को तो ख्याल आया कि आदमी के कंधे पर पहले चदरा नहीं था तो फिर जब बाद में चदरा आया उसके कंधे पर उत्तरीय वक्त आया कर्मकांड करने लगा तो बाद में कुर्ता बनाओ तो दोहरा कर लिया उसने चदरे को फेंका नहीं कुर्ता पहना और उसके ऊपर चदरा रख लिया और थोड़े दिनों के बाद कचरा फेंक दिया तिरका रह गया तो कुर्ते के जगह से मालवी जी दुपट्टा पहनते थे ना हाँ। बगल बंदी मिर्जई और <laughs> उसका कुछ और नाम होगा हमको शेरवानी है ना शेरवानी मिर्जई बगल बंदी ऐसा उसका नाम अच्छा। उसके ऊपर पहले सजरा गले में लपेट के रखते थे बाद में टुकड़ा लपेट कर रखने की जरूरत नहीं हुई तो अभी संस्कृति सरक गई पीछे सरक गई पर कब सरक गई इसका पता नहीं लगा तो किसी चीज को भूत किसने बनाया तुमने तो बनाया ना भविष्य कौन रहेगा तब तुम ही बनाओगे ऐसा जाल बुनोगे रेशम का कीड़ा होता है ना रेशम का कीड़ा तो रेशम का जाल बनाता है वो और फिर उसी के भीतर मर जाता है निकलने का रास्ता नहीं देता ये जो संसारी लोग हैं अपने आस पास पड़ोस में ऐसा जाल बुन देते हैं हम माँ के बिना नहीं रह सकते हम बेटे के बिना नहीं रह सकते हम घरवाली के बिना नहीं रह सकते तो हम घर वाले के बिना नहीं रह सकते हम पुत्र के बिना नहीं रह सकते हम धन के बिना नहीं रह सकते मकान के बिना नहीं रह सकते ये और हम सबके बिना सकते हैं तो अपने मन से ऐसा जाल ऐसा जाल बुनते हैं कि उसमें खुद फंस जाते हैं अपने बनाए जाल में खुद फंस गए तुम्हें सलाह दी बोले बुद्धि ने हमारी बुद्धि ने अरे कृष्ण ने क्या ग्वालिया गाय चरावे इधर उधर दो हाथ का मनुष्य हम तो चार हाथ के नारायण करे थे उनको मानते हैं अच्छा उनको मानते हैं तो तुम्हारी बुद्धि बहुत बड़ी अरे हमने निर्णय कर लिया है क्या का ईश्वर है ऐसे तो, निर्णय किया हमारी बुद्धि से ईश्वर को संदेह करके बना ईश्वर को अपनी बुद्धि के सामने बुला के कटघरे में खड़ा करके है ना एक कटघरे में तुम खड़े हुए ईश्वर खड़े कि नहीं है एक कटघरे में ईश्वर को खड़ा किया ईश्वर है और जज अपनी बुद्धि को जज बनाया कुर्सी पर बैठाया और उससे निर्णय करवाया ईश्वर है देखो ना सबसे बड़ी कौन ईश्वर का निर्णय करे गुरु की योग्यता बता रहे तो बोले भाई गुरु जी को अब नहीं आता पर जो प्रश्न मैं करता हूँ उसका जवाब गुरु जी ठीक नहीं देते हैं गुरु को भी छुड़ा दे इष्ट देवता को भी छुड़ा दे गलती हुई अरे हमने तो साकार को मान लिया ईश्वर को निराकार है कौन बताता है ये तो बता दिया तुम अपनी बुद्धि की बात मान करके साकार को छोड़ के निराकार को बचते हो या निराकार को छोड़ करके साकार को बचते हो ये कौन बना देता है ये बुद्धि देती इसी के लिए महत्व शब्द का प्रयोग करते हैं हमारे जीवन में हमारे अंतकरण में एक महापुरुष हो महापुरुष नहीं ये महावीर a बालू में सोने का कण मिल जाता है तो देखने से मालूम नहीं पड़ता कि उसमें सोने का कण है परंतु उसको जब पानी डालते हैं ना उसको तो बात बढ़ने लगता है और सोने का कण स्थिर रहता है सोना भारी होता है और बालू हल्का होता है <clears throat> तो हमने देखा करते दसियों बीसियों स्त्रियां लगी हुई थी और वो बालू धूप में लेके बालू रही बालू डाल रही क्या करती तो उसमें से सोने का कारण डाल रहे और करने के भीतर कभी सोना होगा उनके स्थान पर वहां पर बैठ जाता है तो बालू कंकड़ में से सोना निकाल लेना स्वर्णम यथा ग्रावस देव कारण श्रीमद ने में ये दृष्टान दिया गया तो निचाज किया ये अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय कोष विज्ञानमय कोष आनंदमय कोष विवेक की दृष्टि से इनको निचोड़ो इसमें तुम निकलोगे ये नहीं निकलेंगे इसमें तुम भरे हुए हो जागृत स्वप्न सुशुक्ति में तुम भरे हुए हो विश्व संयत प्रांत में तुम भरे हुए ज्यादा ध्यान दे में तुम भरे हुए हो ज्यादा दे में तुम भरे हुए हो जरा एक बार गौर तो करो अगर तुम न हो तो सृष्टि मालूम किसको पड़े तो दुनिया में न कोई बहुत सराहने लायक है न निंदने लायक है अरे भाई ये तो काम चलाऊ ढंग है सूर्य की रोशनी में अपने आप में के प्रकाश में अरे जो सपना आया उसकी क्या तारीफ है क्या निंदा है न स्तुवीत न निंदित पूर्वत साध साधुगा गदतो दिया मर्जित समुद्र मुनि न स्तुति करे न निंदा करे ये छोटी छोटी चीज अपना ये जो दिल है ये छोटी छोटी चीज को पकड़ने के लिए नहीं है ये सबसे बड़ी चीज परमात्मा को पकड़ने के लिए है जाम से ढके हुए मल मूत्र की थैली के प्रति इतना प्रेम राम सीताराम कहाँ फंसे अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिव धूमक ईशानो भूतभव्यस्य स्व एवाद्यसौ स्वः एतद्वै तात पुरुष है पुरुष माने तुम स्त्री महिला जी खड़ी हो गई महिला महान महिला बोले स्वामी जी आप लोग बस उपनिषदों में वेदांतों में है ना जब देखो जब पुरुष पुरुष करते रहते हो स्त्री क्यों नहीं बोलते तो देखो ये जो महात्मा लोग हैं ये स्त्री पुरुष पर नजर नहीं रखते हैं जब ब्याह करना हो तो स्त्री पुरुष पर नजर रखे और पुरुष स्त्री पर नजर रखे है ना ये उस पुरुष पर उस आत्मा पर नजर रखते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में होता है जो नर और मादा दोनों की आत्मा है उसको पुरुष कहते हैं हो जो पशु में है पक्षी में है मनुष्य में है देवता में है दानव में है मानव में है सब के भीतर जो है है ना उसको पुरुष कहते हैं पुरुष माने आत्मा स्त्री की आत्मा पुरुष की आत्मा सबके उसके भीतर है हृदय और उस हृदय में ये आत्मदेव कैसे प्रज्वलित हो रहे हैं कि ज्योतिरिवा धूम कहा अधूमकन ज्योतिरिवा के बिना धुएं की ज्योति जल रही हो बिना धुएं की ज्योति माने ईंधन नहीं है ज्योति है आप इसको यूं समझो धुआं आग में धुआं कब नहीं होगा आग में धुआं तब नहीं होगा जब ईंधन नहीं होगा अधूमक ज्योति माने निर्मल ज्योति द्वैत है ईंधन और ज्ञान है ज्योति तो जब ज्ञान द्वैत को दृश्य को कार्य कारण को प्रका, अनात्मा को प्रकाशित करता है तब उसमें से धुआं उठता है वो धुआं क्या है तो वो धुआं ही मृत्यु है वो धुआं ही अज्ञान है वो धुआं ही दुख है लेकिन जब द्वैत का बाध हो जाता है निर्मल ज्योति अपना आत्मा जाग जाग जगमग जगमग जगमग निरंधन ज्योति ईधन नहीं है जलाने के लिए ये जो रोशनी बल्ब में दिखती है ना ये पावर हाउस से रोशनी चल के आती है नहीं हो रोशनी पावर हाउस से चल के नहीं आती है वो तार जो है ना तार उनमें रोशनी नहीं दौड़ती है शक्ति दौड़ती है बोला तो आके लाउड स्पीकर में है ना आवाज को बढ़ा दे पंखे में आके हवा फेंकने लगे बल्ब में आके रोशनी कर दे है ना एयर कंडीशन में आके ठंडा कर दे हीटर में आके गर्म कर दे पांच भूतों के गुण को प्रकाशित करे तो वो शक्ति है शक्ति विद्युत जो है वो शक्ति है कमल ज्योति जिसमें ईंधन नहीं है जलाने के लिए लकड़ी नहीं है उपले नहीं है कोयला नहीं है और ज्योति है ज्योति तुम्हारी आत्मा है छोड़ने में डरोगे भाई तो दुख तो नहीं मिटेगा छोड़ने के लिए तत्पर हो गए दुख छोड़ने के लिए और कोई कहे कि हम तो दुख ही पकड़ के रखेंगे बच्चे से पूछा भाई तुम रोते क्या काहे को तो बोले कि हमारी माँ रोए बिना मिठाई देती नहीं है पाँव पटक के रोना पड़ता है, है? तो अगर तुमको रोने से ही मिठाई मिलती हो तो आप पाँव पटक के रो ठीक है परंतु ये बच्चे का धर्म है हाँ। भूत भव्य भूत भव्य का ईशान है माने नित्य कूटस्थ है बोला नित्य कूटस्थ है का नित्य कूटस्थ अद्य इदान स एवाद्य प्राणीसु वर्तमान सोपी वर्तिष्यते नान्य तत्सम अन्य जनिष्यते इत्यर्थ वही कल था वही आज है स एवाद्य वही आज है और स स्व माने अपि वही वही कल भी है हाँ। माने आत्मा कल दूसरा पैदा नहीं है जो आज है सो ही रहेगा और यही कल था भूत और भविष्य पर्दे के दृश्य के समान आते और जाते हैं और आत्मा दृष्टा बिल्कुल उसको देख रहा है व्यक्ति चैके कोई कोई कहते हैं शुरू शुरू में ये प्रश्न उठा था नचिकेता आत्मा के संबंध में ये विवाद है आत्मा है कि नहीं है कोई पक्ष बोलता है है कोई पक्ष बोलता है नहीं है तो आत्मा नहीं है ये बात किसी भी जुक्ति से ध्यान से सिद्ध नहीं है बोला पहले तो मोटा मोटी ये बात कही जाती है तो, तो आज सुख दुख नहीं मिल सकते और आज यदि आत्मा हो आज ही मिट जाए तो आज के किए का आगे सुख दुख नहीं मिल सकता कर्म और कर्म फल का सिद्धांत जो है वो कट जाएगा तो मोटा मोटी बात तो यही है कृत हानि अकृताभ्यागम प्रसंगा आज तक जो कुछ हमने किया है वो क्या सब बिना फल दिए ही मर जाएगा और आज जो हम फल भोग रहे हैं वो क्या बिना कुछ किए ही मिल रहा है तो पहले करने वाला मैं और अब भोगने वाला मैं और अब करने वाला मैं और आगे भोगने वाला मैं बिना कार्य कारण की श्रृंखला जुड़े कर्म फल कर्म कर्म फल की सिद्धि नहीं होती इसलिए आत्मा जो है वो अजर है अमर है एक रस है छोटा मोटी बात हुई न्याय से जुक्ति से ये बात सिद्ध होती है अनुभव से ये बात सिद्ध होती है कि मैं दृष्टा हूँ ये बात अनुभव से सिद्ध होती है हो हाँ। यदि कोई ये सोचने लगे कि मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ है ना मैं नहीं होऊंगा मैं नहीं था तो मैं नहीं था मैं नहीं हूँ मैं नहीं होऊंगा ये जो तीनों प्रकार की वृत्तियां चित्त में उठ रही हैं इनका दृष्टा इनसे न्यारा ही रहेगा इसलिए कोई भी मनुष्य कोई भी आत्मा कोई भी चैतन्य अपने अभाव का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं है हमारे अनुभव की प्रणाली में मैं नहीं हूँ ये अनुभव नहीं हो सकता तो ये बुद्ध को हो सकता न महावीर को हो सकता न शंकर को हो सकता न विष्णु को हो सकता न राम को न कृष्ण को न किसी को अब तक हुआ है न आगे होगा क्या तो मैं नहीं हूँ इत्याकारक अनुभव ये होगा ही नहीं नहीं कश्चित प्रति आप ना हम अपनी थी अपने अभाव का तो अनुभव ही नहीं होता तो जुक्ति से ये सिद्ध है कि कर्म के कर्ता के रूप में और उसके फल के भोक्ता के रूप में आत्मा एक होना चाहिए ये बात युक्ति से सिद्ध है और अनुभव से ये सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है और श्रुति से ये सिद्ध है कि ये दृष्टा आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है कोई कहे कि हमको ये अनुभव से ही सिद्ध है तो उसको कहना कि तुमको है ना आत्मा और ब्रह्म की एकता का संस्कार पहले से श्रुति सिद्ध है है ना इसलिए तुम्हारे अनुभव में ये आया बिना संस्कार के अनुभव ही कहाँ से आवेगा तो युक्ति से सिद्ध ये है कि आत्मा अजर है अमर है अनुभव से ये सिद्ध है कि आत्मा दृष्टा है असंग है और श्रुति से ये सिद्ध है कि आत्मा अद्वितीय है ब्रह्म है हाँ, आत्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं ये बात सिद्ध है श्रुति से वेदांत से ये बात नहीं मालूम पड़ती वो वेदांती नहीं है वो तार्किक है अपनी युक्ति को ही सर्वस्व समझ के बैठे हुए हैं और समय पर युक्ति तो काम देती नहीं अच्छा तो इससे क्या हुआ कि न्याय प्राप्त अनुभव प्राप्त और वेदांत से प्राप्त स्वचने नहीं हुआ श्रुति ने अपने वचन से ही ये बात कही कि सएवाद्य सऊत्व वही आज है वही कल है और वही भूत भविष्य का ईशान है तो आत्मा नहीं है इस पक्ष का स्वयं निषेध कर दिया ये आनंद आश्रम वाली पुस्तक में जो प्रयुक्त पाठ छपा है वो गलत है वो प्रत्युक्त चाहिए प्रत्युक्त प्रत्युक्त माने उसका प्रतिवचन कर दिया गया उत्तर दे दिया गया निषेध कर दिया गया जो कहते हैं कि आत्मा नहीं है उनका पक्ष न्याय के विरुद्ध है, और युक्ति के विरुद्ध है अनुभव के विरुद्ध है और श्रुति के विरुद्ध है क्षण भंग बाधस्त्यो जो कहते हैं कि आत्मा जो है वो क्षणिक है तो बताया था क्षणिक होवे तो क्षण को जाने कौन आप देख लो है ना दस हजार बातें मन में आती हैं और जाती हैं और तुम तो एक ही रहते हो इनका संबंध होता है तो धर्म की उत्पत्ति दस हजार सेकेंड देखे होंगे कि नहीं आपने तो करने का आधार जो अधिकार है ये सेकेंड चले जाते हैं मिनट चले जाते हैं घंटे चले जाते हैं है ना दिन पर दिन जाते हैं और अपना आपा बिल्कुल एक रहता है भंगवाद और आत्मा का नास्तित्व इन दोनों का निषेध युक्ति से और अनुभव से होने पर भी श्रुति ने अपने वचन से ही कह दिया तो ये तदवई तात्व यही जो युक्ति से न्याय से सिद्ध अजर अमर आत्मा है यही जो अनुभव से सिद्ध दृष्टा आत्मा है, है इसी को श्रुति ब्रह्म बताती है अद्वितीय बताती है है ना ये तदवई तात्व यही वो है निर्भय हो जाओ परमात्मा यही है बोधकम दुर्गे वृष्टम पावती यथोदकम दुर्गे है ना ये वही सात यही वो है निर्भय हो जाओ परमात्मा यही है बोधकम दुर्गे वृष्टम पावती यथोदकम दुर्गे पर उनके निरूपण की शैली इस मंत्र में बुनियादी से है अशब्द मस्पर्श भेद भागता है तो भेद को जब पकड़ोगे कहोगे कि हाथ पकड़ लोगे हम तुमको जाने नहीं देंगे चीज को आदमी को किसी को पकड़ो हम तुमको जाने नहीं देंगे इसके साथ तुमको जाना पड़ेगा गृहस्थी का नियम है उसके साथ तुमको जाना पड़ेगा जब तुम कहोगे कि हे शरीर हम तुमको मरने नहीं देंगे शरीर को पकड़ के बैठो तो जब शरीर मरेगा तो तुम क्या सोचोगे कि मैं मर रहा हूँ कहाँ से आवेगी देह को मैं समझने से मौत आवेगी तो, तो हम पकड़ के रखेंगे तुम तो पकड़ के रखोगे नहीं तुम खुद पकड़े जाओगे पकड़े जाओ भेद अधमना पृथक बागा तस्मात गौर पदाचार्य ने कहा ये जो पृथक बाग हैं ब्राह्मण अलग क्षत्रिय अलग वैश्य अलग शूद्र अलग है ना मनुष्य अलग पशु अलग पक्षी अलग पाकिस्तान अगर अलग अलग न होते तो लड़ाई क्यों सब बात और बस्ता अलग संघर्ष की और दुख की दृष्टि करता है यशोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वते सुधावती दुर्गम देश में बड़े ऊंचे पहाड़ पर वर्षा होती है उसको कहते हैं जिसमें पर्वई पर्व होंगे हो गांठ पर गांठ है ना एक चोटी पार की तो समझ एक चोटी दिखती है ना तो मालूम होता बस बस यही सबसे ज्यादा ऊंचाई है और जहाँ वो चोटी पार की दूसरी और ऊंची देखे तो फिर बोले यही सबसे ऊंची है उसको पार किया तो फिर मालूम पड़ता है प्यारा और रूप है रूप का दृष्टा है इससे न्यारा रस है रस का ज्ञाता है रसैसा है उससे न्यारा गंध है गंध का ज्ञाता है इससे न्यारा ये जो इदम को जानने वाला अहम है ये अहम किसी भी रीति से परिचिन्न नहीं है ये चेतन है अपरिच्छिन्न है अद्वितीय है पकड़ने तो में खुद ये चिड़िया कैसे पकड़ी जाती है वो सिपाही के भीतर जो चारा पकड़ने गई और उसकी उसकी पाख में गोंद लग गया जाल में आदमी कैसे फंसता है कि जो जो आत्मा नहीं है दृश्य है अनात्मा है ये जो काल के अंदर जो होता है ना हो दो सौ वर्ष पहले कैसी संस्कृति थी पांच सौ बरस पहले हजार अच्छा, ये संस्कृति होती है और जो एक मजहब में चलता है संप्रदाय फिर का तो पकड़ के बैठ गए काफी होती है फिर नारद जिला होता है प्रांत ही होता है राष्ट्र होता है फिर एक धरती की अं-, है ना अंतरराष्ट्रीयता होती है और फिर मानवता होती है यानी कि जहाँ तक नजर पहुँचती है ना जो बुद्धिमान होते हैं वो बड़े से बड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक बड़े को पकड़ के कहते हैं बस इसके भीतर का सब हमारा हमारा

कई बनने लगे हो कि दो दो तीन तीन आदमी उसमें बैठ के जाके शेयर कर आए कैसे बनने लगेंगे तो ये तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या काम देगी तो पाकिस्तान ही नहीं जाने देती बर्मा ही नहीं जाने देती राष्ट्रीयता तो लंका से ही बचाती है ठीक है तो बोले कि नहीं धरती पर तो भाई आदमी जहाँ चाहे वहाँ जा सकेगा जैसे अपने जिले में घूमे आते हैं है? खुद उस दृष्टा को अपने अहम पद के अर्थ को अपने और सिद्ध बताता है जो चेतन है तो ये चेतन सबको देखता है देखा नहीं जाता है देखने का हाथ देखना नहीं होता देखना माने जानना ये सबको तो जानता है परंतु जाना नहीं जाता संस्कृत भाषा में दृश्य धातु है ये ज्ञानार्थक है ये आंख से देखने की क्रिया मात्र का वाचक नहीं है ज्ञानार्थक है दृष्टि ही सर्वत्र ज्ञानार्थक सर्वत्र ज्ञानार्थक है मनुष्य नहीं जीतेगा संघर्ष नहीं मिटेगा कठुता नहीं मिटेगी युद्ध नहीं मिटेगा तो विश्व हित की लोक हित की दृष्टि से भी ये वेदांत का जो ऐक्य दर्शन है ऐक्य दृष्टि है ये लोक हित की दृष्टि से भी सार्वकालिक है ना सार्वभौम सार्वदेशिक सार्वकालिक है ना ये कल्याणकारी है हो है ना यदि इसको छोड़ देंगे तो वही जैसे पानी इधर उधर इस गांठ से उस घाट में इस गांठ से उस गांठ में है ना कभी इधर गए कभी उधर गए न इधर करे न उधर करे बिना एकत्व दर्शन के मनुष्य को शांति और सुख और निर्भय पद की प्राप्ति नहीं हो सकती अच्छा ये रास्ता बता ऐसा अनुभव करता है ऐसा जानता है ऐसा करना नहीं है ये कोई यज्ञ करोगे तब तुम ऐसे हो जाओगे तो बात नहीं है ये अद्वैत वेदांत में और दुनिया भर के सब संप्रदायों में ये नहीं अद्वैत संप्रदाय को छोड़ करके बाकी सब संप्रदाय एक तरफ चाहे बौद्ध चाहे जैन है ना चाहे वैष्णव चाहे शैव चाहे साक्ष चाहे सांख्य चाहे वो ये ही वेदांत की खास विशेषता है ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म ज्ञान मात्र परम ब्रह्म ये यज्ञ करने से कोई ब्रह्म नहीं होता भावना करने से कोई ब्रह्म नहीं होता अभ्यास करने से कोई ब्रह्म नहीं होता ये तो ब्रह्म है इसलिए वेदांत सिद्ध ब्रह्म का बोध करवाता है हाँ, विद्यमान का बोध करवाना ये वेदांत का काम है इसीलिए वेदांत जो है वो चरम अंतिम प्रमाण है हाँ, अखंड सत्ता के संबंध में ब्रह्म सत्ता के संबंध में प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म सत्ता के संबंध में हाँ, तो नारायण ये बात है कि छोटी छोटी दृष्टियों में अपने को आबद्ध नहीं करना पूर्ण दृष्टि जो आत्मा के संबंध में पूर्ण दृष्टि है उसको समझने की समझने की कोशिश करना और उसको समझाने के लिए कोई इंद्रिय समर्थ नहीं है बोला कोई दूरबीन कोई खुरदबीन समर्थ नहीं है किसी डॉक्टर की वैज्ञानिक की प्रयोगशाला है ना प्रयोगशाला में ये बात नहीं देखी जा सकती ये प्रयोगशाला का विषय नहीं है ये सोलहो आने है ना आत्मा को ब्रह्म लखाए देना ये सोलहो आने वेदांत का काम है ये वेदांत के सिवाय और किसी का काम नहीं है अच्छा